कि ये सब कुछ तेरे उस करतूत का बदला है जो तूने अपने हाथों से आगे भेजा था और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म ढाने वाला नहीं है